आज हम आपकी भेंट एक ऐसे व्यक्ति से करा रहे हैं जिनका नाम यहाँ अमेरिका में भारतीय संगीत का पर्यायवाची है अमेरिकी भारतीय संगीत से ही नहीं भारतीय नृत्य कलाओं और दर्शन से भी इन्हीं के संगीत के माध्यम से परिचित हुए और उसका सम्मान करने लगे पंडित रविशंकर पंडित जी नमस्कार आपने आपके संगीत ने हमारे देश को जो सम्मान दिलाया है उसके लिए सारा देश आभारी है और यहाँ जो भारत महोत्सव आरंभ हुआ उसमें जिस तरह लोगों ने आपके संगीत को सुन तालियां बजाईं और स्वागत किया उससे लगा कि आज हम कहाँ हैं लेकिन जब आप आरंभ में अमेरिका आए होंगे जो सन छप्पन सत्तावन की बात है तब तो ऐसा नहीं था आपने कुछ उन दिनों की बात सुनाइए जी नहीं उस समय तो बिल्कुल आप समझिए कि चंद गिने चुने लोग थे जो आते थे हमारे कॉन्सर्ट्स में लेकिन मैं तीस साल हो गया जब शुरू किया हर दफ़े ईच टाइम जो हम आ, आने लगे वो दर्शक के संख्या बढ़ती गई और आप समझिए कि सन उनसाठ तक कारणगी हॉल जैसा रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में साल प्लेयर पेरिस में ये सब हॉल भरता गया फुल हाउसेस और हमारा एक यहाँ जो सम्मान मिली वो उसी कैटेगरी का रहा जैसा कि यहाँ के प्रख्यात यहूदी मेन्यू हुए डेविड ऑस्ट्राक हुए सिगोविया हुए उनके बराबर एक पोजीशन मिला ये मेरे गुरु की आशीर्वाद है भगवान की आशीर्वाद है मैं बहुत मेहनत किया पानियरिंग काम बहुत करना पड़ा सिर्फ बजाया नहीं मैं मैं काफ़ी क्या कहते हैं लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशंस रेडियो में न्यूज़पेपर में मैगजीन्स में और फिर जब से टीवी में भी काफ़ी इसके प्रचार के लिए मैं मेहनत किया आ, आप तो दरअसल जैसे लगता है इस सदी के महान संगीतज्ञों में से एक हैं और ये तो आपका कहना है नहीं ये तो सब जानते हैं तो ऐसा अमरीकी कान तो एक तरह से पाश्चात्य संगीत सुनने के अभ्यस्त होते हैं और भारतीय संगीत में कलाकार उसकी सृजनशीलता प्रधान होती है उन तक पहुंचने में आपको क्या क्या कठिनाइयां पेश आई जैसा मैं कहा कि पहले पहले तो कम लोग थे लेकिन हम जो मेहनत करते गए और कभी कभी कैंपस में लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन भी काफ़ी दिए उससे ये हुआ आ, कि संख्या बढ़ती गई और यहाँ के लोग आप जानते हैं जो कोई चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं तो उसमें घुस जाते हैं हम्म। उसके लिए बहुत जानने को प्रयास करते हैं समझने के प्रयास करते हैं फिर एक दूसरा फेज़ आया हमारा वो पहला फेज़ चला सन पैंसठ तक उसके बाद दूसरा फेज़ जब आया वो जबकि जॉर्ज हैरिसन बीटल्स के एक जो थे हैं वो हमारे शागिर्द हो गए अब मुझे उस समय आप सच मानिए मुझे पता नहीं था बीटल्स कौन थे मुझे पता ही नहीं था कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा उसका इच्छा देखकर उसका उत्साह देख मैं उसको अपना शागिर्द बना लिया और थोड़ा ही दिन सीखा हमसे लेकिन उसमें एक ऐसा भयंकर चारों तरफ ये फैल गया मैं बिल्कुल ताजुब हो गया उसमें मुझे बिल्कुल एक सुपर डम का ये मिल गया और एक कल्ट गुरु समझिए उन दिनों में वो सब नया ही था वो वियतनाम का मामला और हिपीज फ्लावर चिल्ड्रन तो एकाएक मैं देखा कि जितने बच्चे लोग हैं कम उम्र के वो सब हमको बिल्कुल अपने कल्ट गुरु बना दिए सुपरस्टार बना दिए और हमारे जलसे में सब आते थे तो हर चीज़ का दो साइड है अच्छा यह हुआ कि हम अगर और कैसा लग लग जा लग जाता था इन बच्चों को मतलब अपने म्यूजिक की तरफ आकर्षण करने के लिए लेकिन एक एक एकाएक सारा दुनिया में क्या यहाँ क्या ऑस्ट्रेलिया क्या साउथ अमेरिका क्या जापान क्या यूरोप हर जगह सिर्फ हमारा ही नहीं सितार का भारतीय संगीत का प्रति आकर्षण बहुत बढ़ गया और ये लोग सब आते थे सिर्फ जो नेगेटिव साइड था वो ये था कि वो लोग उनका एटीट्यूड जो रहा वो ऐसा रहा कि जैसा रॉक कॉन्सर्ट में जाते हैं उसी uh, मतलब एक सुपरफिशियल और um, थोड़ा साथ साथ नेचुरल ड्रग्स वगैरह का जो उनका वो चला था वो भी मिल गया तो उससे मुझे बड़ा दुख हुआ तो मैं हमेशा उन लोग को कहता था बहुत प्यार से कि देखो आप लोग ठीक से बैठिए आप स्मोक नहीं करिए ये भारतीय संगीत बहुत उच्च कोटि का एक भावना लेके हम बजाते हैं इसमें स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट बहुत है तो आपको भी ऐसे ही श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए ऐसा नहीं जैसे आप रॉक रोल में जाते हैं सिटी बजाते हैं चिल्लाते हैं हल्ला गुल्ला करते हैं खोखा कोला पीते हैं और काफ़ी कुछ अजीब अजीब सब चलता था उस समय कई जगह मैं तो सितार लेके वापस चला गया स्टेज से अच्छा हाँ तो इधर तो मैं ये करता था अपना संगीत को अपनी जगह पहुंचाने के लिए और उधर जनाब हमको भारत में काफ़ी कुछ क्रिटिसिज्म भी सुनने पड़ते थे कि हाँ। रविशंकर तो सत्यानाश कर दिया शास्त्रीय संगीत का वो अमेरिकनाइज कर दिया मॉडर्नाइज कर दिया सैक्रिलेज हाँ। तो ये सब खैर चलता रहे लेकिन जो सच्चाई है तो देर लगता है अंधेर देर मगर अंधेर नहीं अब लोग को पता लगा कि मैंने क्या किया नहीं किया और वो भविष्य में भी लोग को पता लगेगा उसके लिए मैं अपने मुँह से कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन अब अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मिलियंस के दरमियान जो वो थे श्रोता उस सेकेंड फेज में हालांकि वो सुपरफिशियल पीरियड था वो फैट था आस्ते आस्ते वो घट घट घट के फिर कम हो गया लेकिन उनमें से जो रह गए वो आज भी हैं अब वो लोग वाकई आप सब विश्वास करिए कि बड़े श्रद्धा के साथ सुनते हैं जैसा कि हमारा संगीत सुनना चाहिए जैसा बाघ बेथोवन के कॉन्सर्ट में जैसा जाके कायदे से बैठते हैं वैसे ही वैसे ही आते हैं बल्कि उससे भी ज़्यादा कहना चाहिए और बिल्कुल शांति से सुनते हैं और समझते भी ज़्यादा क्योंकि वो लोग इतना दिन से सुनते सुनते रिकॉर्ड एल्बम का स्लीव्स पढ़ पढ़ के किताबें पढ़ के बहुत ज़्यादा समझ में आ गई और इसमें अच्छा ये हुआ कि सिर्फ मेरे लिए नहीं भारत के अच्छे अच्छे कलाकार यानी बड़े बड़े महान कलाकार मध्यम स्थिति का कलाकार ऐसा कि कुछ नए कलाकार भी अगर आए उनको हर एक को अवकाश मिलता है बजाने का यहाँ और अच्छा सक्सेस भी होता है तो ये मुझे बड़ा हर्ष है मैं सम, ये समझता हूँ कि मेरा इतना मेहनत जो है ये सार्थक हुआ अब यहाँ की सभ्यता संस्कृति काफ़ी फ़र्क है जैसा आपने बताया यहाँ जब आप लोगों को संगीत सिखाते थे या उसके बारे में बताते थे अब जिस तरह आपके उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब वो तो सुना है बहुत सख्ती बरतते थे अपने शिष्यों के साथ बिल्कुल वो तो बिल्कुल पुराने ऋषि मुनियों के जैसा थे बहुत ही सख्ती के साथ और उनका प्रिंसिपल बड़ा स्ट्रांग था और अमेरिका के जो लोग हैं ये तो सख्ती बर्दाश्त नहीं करते बिल्कुल आपने उस परंपरा को आगे बढ़ाया <laughs> हाँ तो ये बात है कि मुझे मेरा जितना ड्यूटी था ये प्रचार करने के लिए और बीच में जो एक वो जो डामाडोल हुआ उस समय मुझे थोड़ा ज़्यादा रहना पड़ा यहाँ इसलिए रहना पड़ा कि वो एक अजीब जगह चला जा रहा था हमारा संगीत ड्रग कल्चर के साथ मिल के और सारा मिल के तो मैं यहाँ रह के बोल बोल के इसको सही जगह में पहुँचाने के लिए जो मेहनत करना था वो किया जिस वजह से हमको काफ़ी दिन यहाँ रहना पड़ा लेकिन अब मुझे अपना जो वो काम है वो हो गया आता हूँ ज़रूर क्योंकि एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए कॉन्सर्ट देना जब तक हो सके वो ईगो के लिए कहिए जो कुछ भी कहिए वो अपना धर्म है वो तो जब तक हो सके करेंगे लेकिन मैं बहुत कम कर दिया कम से कम साल में तीन चार महीना ऐसे ही अंदाज है हाँ। बाकी भारत में मैं रहता हूँ दिल्ली में रहता हूँ हम्म। और बाकी जो आप पूछ रहे थे वो संस्कार जो है वो संस्कार हम लोग तो पैदा से होते समय से ही अपने घर से ही सीखते हैं पैर पढ़ना श्रद्धा करना बड़ों को इज्जत करना ये नहीं कि अपना गुरु लेकिन उम्र में जो बड़े हैं जो सीनियर हैं उनसे हम हमेशा झुकते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है तो हम उनको कभी इंसल्ट नहीं करते हैं ये सब अपना संस्कृति का एक जी हाँ अंग है हम पैदा ही होते हैं उसको लेके लेकिन यहाँ तो ये सब नहीं है यहाँ बड़ा अजीब ढंग का सोशल लाइफ है आप हाँ। जानते ही हैं तो इसीलिए मैं जितना स्कूल खोला था वो सब बंद कर दिया अभी अच्छा अब यहाँ जो लोग सीरियस हैं वो लोग अभी भारत में भी आते हैं वहाँ रहते हैं सीखते हैं और मैं चाहता हूँ कि जो चाहें वहाँ ही आए अच्छा। और मैं अपना बिल्कुल चंद शिष्य हैं हमारे भारत में अभी नया ग्रुप एक है जो कि कम उम्र के हैं सब उनको ऊपर हम उनके साथ मेहनत कर रहे हैं और मैं बड़ा खुश हूँ और कुछ क्रिएटिव काम वगैरह मुझे करने का बड़ा इच्छा है बैले हुआ ओपेरा हुआ ऑर्केस्ट्रेशन हुआ और मल्टीमीडिया शो जैसा होता है ये भारत में मुझे करना है आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ दिन जब आरंभ के दिन यहाँ आपके थे तो लोग कहते थे कि आपने भारतीय संगीत को शुद्ध नहीं रहने दिया लेकिन हाँ, ये तो सब सुनना ही पड़ा आप भी लेकिन लगा के आपने परंपरा को आगे बढ़ाया है और भारतीय संगीत की परंपरा निरंतर अच्छी बढ़ती चली गई है उसमें उस समय एक दो दो चीज़ था जिसके ऊपर लोग हमको ज़्यादा मतलब गलत समझे एक तो था <clears throat> कि मैं कंपोजर भी हूँ जी हाँ संगीत मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन करता हूँ ऑर्केस्ट्रा के साथ अलग अलग म्यूजिशियन के साथ चाहे वो जैज म्यूजिशियन हो जापानीज म्यूजिशियन दक्षिण भारतीय हो कुछ भी हो कुछ भी क्लासिकल म्यूजिशियन मैनमैन जैसा जहाँ पे रामपाल जैसा जुबिन मेहता एंड्रे प्रेविन तो इससे काफ़ी लोग समझते थे कि देखो हम राग को लेके क्या कर रहे हैं नहीं करना चाहिए ये नहीं समझे कि एक अलग दिशा है क्रिएटिव चीज़ है एक्सपेरिमेंटल चीज़ है उससे हमारा सितार का बजाने का जो धर्म है उसमें नहीं बिगड़ा और मैं काफ़ी मैच्योर था उस समय मैं जब यहाँ आया मैं हाँ। बिल्कुल इस सक्सेस में और नाम यश में मैं बह नहीं गया इतना तो हमारा भगवान की कृपा से होश था अच्छा दूसरा ये रहा कि जब नया नया मैं शुरू किया अब काफ़ी लोग के ये गलत फहमी है कि राग जब तक एक घंटा डेढ़ घंटा नहीं बजे तब तक वो शुद्ध नहीं है ये बिल्कुल गलत ख्याल है आप देखिए हमारे पुराने जितने जि, जिसका भी नाम हमारे गुरु से लेकर पंडित ओंकार नाथ देखिए अब्दुल करीम खान साहब देखिए फयाज खान साहब देखिए इनायत खान सितारी देखिए और बड़े अच्छे अच्छे जितने गुणी लोग हैं अपना साढ़े तीन मिनट का रिकॉर्ड भी बना गए हैं जो कि इमॉर्टल है जिसको सुन के हम अभी भी ताजुब होते हैं उनका लॉन्ग प्लेंग किसी किसी का भी है आमिर खान साहब हुए बड़े गुलाम अली खान साहब हुए तो इसका मतलब यही नहीं है कि एक समय का बहादुरी देखा कि एक घंटा हम दो घंटा बजा सकते हैं दरबारी काड़ा तो वो ग्रेट हो गया और नहीं मैं क्योंकि मेरा बचपन से यहाँ मैं रह चुका हूँ मेरे भाई साहब उदय शंकर जी के हाँ। साथ तो हमारा बचपन से फ्रांस में जर्मनी में इटली में सारा यूरोप विश्व में घुमा यूनाइटेड स्टेट्स में भी तो आठ साल जो मैं था बाहर मैं यहाँ अध्ययन भी किया स्कूल में उस समय में बड़े बड़े म्यूजिशंस लिटरेट आदमी जितने सबसे मिला रोमैरोल से लेकर अपना फ्रिट्स क्रैसलर बड़े बड़े म्यूजिशियंस सिगोविया सबको तो मेरा जो एक अनुभव हुआ था उस समय ये लोग कहते थे कि इंडियन म्यूज़िक बहुत एक्साइटिंग है बहुत कमाल है लेकिन बड़ा मोनोटनस है बहुत देर रुकता ही नहीं चलता ही रहता है और फिर क्या म्याओ म्याओ होता है यानी हम लोग जो ये जो मीट हमारे लिए खास चीज़ है उनके कान में लगता था कि बिल्ली का म्याओ तो ये सब सुनकर मेरा जो दिमाग में बैठा हुआ था जबकि हम हमारे पूज्य गुरु बाबा अलाउद्दीन से हम तालीम पाए इतने साल तक सब उन्होंने हमको ध्रुपद धमार बीन सुरसगार सुबहार का जो पुराना ढंग का शैली है वो सब सिखाया फिर ख्याल टप्पा ठुमरी वगैरह उसके बाद में काफ़ी दिन मेहनत करके जब हमारा नाम यश भारत में पूरा हो गया फिर मैं दिल्ली में ज्वाइन किया डायरेक्टर ऑर्केस्ट्रा वादले बंदे का चैम्बर हाँ। ऑर्केस्ट्रा जो था उस समय काफ़ी लोग मुझे बताया फॉरेनर लोग जो दिल्ली में कि आपको चाहिए अब बाहर भी जाएं क्योंकि आप बड़े अच्छे समझा सकते हैं यू कैन कम्युनिकेट उन दिनों में हमारे कोई म्यूजिशियन नहीं था जो कि थोड़ा भी समझा सके इसको अच्छा खास करके इंग्लिश में हम्म। और मैं भगवान के कृपा से इंग्लिश में फ्रेंच में सब बराबर समझा सकता था थोड़ा बहुत तो वहाँ के काफ़ी डिप्लोमेट्स लोग मुझे प्रोत्साहन दिए तो उसके बाद मैं 56 में आया और आने के साथ ही बहुत सक्सेस हुआ क्योंकि मैं इतना अच्छे से समझाया और फिर मैं देखा कि इन लोग कभी नहीं सुने हैं भारतीय संगीत अब इनके सामने हम अपना बहादुरी दिखाने के लिए डेढ़ घंटा बैठ के एक अलाप बजाएं राग मियाँ मल्ला न तो दरबारी में तो बेचारे सब भाग जाएंगे न तो you know they crawl the walls as they say in English तो मैं इतना ही इतना ही लिबर्टी लिया कि मैं शुरू में अलाप नहीं बजाया मैं छोटे छोटे गत से शुरू किया और एटमोसफियर बनाने के बाद इंटरवल में एक तबला का सोलो रख के उसके बाद में बराबर अलाप जोड़ बजाया तब तक वो जो नए लिसनर्स हैं जिनके लिए नया आवाज़ नया सब कुछ दे बिकम सेटल्ड उनका अभ्यास हो गया सुनने का थोड़ा सा अब फिर मैं आधा घंटा चालीस मिनट अलाप चोर जब बजाता था ऐसे अच्छे से सुनते थे वो कहते थे कि it has such it spiritual it was spiritual experience सब आँख मूंद के अलाप जोड़ सुनते थे तो इससे मुझे प्रतीत हुआ कि मैंने ठीक ही किया यहाँ के लिए लेकिन उसमें मैं कोई भ्रष्ट नहीं किया खाली ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन लेकिन आजकल मैं नहीं करता ये मैं कम से कम छः सात साल किया शुरू में जो आम भारत का नागरिक है वो पहले कभी जिस तरह आपके पास बैठ के सुन सकता था उसको लगता है कि वो आपके कॉन्सर्ट्स में उसके लिए आना तक मुश्किल हो जाता है और केवल रेडियो ही सुन पाता है <laughs> या ये हम काफ़ी सुनते रहते हैं लेकिन आ, मैं अब क्या बताऊं मैं तो अपने तरफ से बहुत कोशिश करता हूँ हर साल मैं कम से कम दो तीन जलसा ऐसा करता हूँ कलकत्ते में अलग अलग जगह में जहाँ की बहुत बड़ा स्केल में मानिए बारह हज़ार दस हज़ार लोग आए और बहुत कम टिकट में प्रोग्राम अपना संस्था है रिम्पा उसके माध्यम से मैं करता रहता हूँ तीन रुपया पाँच रुपया का टिकट लेके आम जनता आता है खास करके कलकत्ता में तो बहुत ही इसका प्रचार है अभी मैं दक्षिणेश्वर टेम्पल में बजाय एक फ्री प्रोग्राम उसमें बीस हज़ार लोग आए थे तो ऐसा अपने तरफ से तो हम करते हैं लेकिन हर जगह पॉसिबल नहीं होता शायद आ, अब क्या करें हमारा इच्छा तो बहुत है ना हो सके इस इस ढंग से हम प्रोग्राम करें ताकि सब कोई आ सके भारत का संगीत जिस तरह लोक संगीत है फिल्म संगीत है और शास्त्रीय संगीत ये जो फिल्म संगीत है ये भी एक तरह से अब लोक संगीत बनता जा रहा है लोग इसे पसंद करने लग गए हैं आपको ये नहीं लगता कि ये संगीत शास्त्रीय संगीत की रुचि से लोगों को हटा रहा है आ, सच मानिए मैं ये नहीं मानता काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं लेकिन मैं इसको नहीं मानूंगा क्योंकि हर एक सोसाइटी में हर एक एक ग्रुप ऑफ लोग हैं जिनको अपना अपना म्यूज़िक पसंद का हमेशा रहता है ये आप वेस्ट में देखिए वेस्ट में आपको बहुत क्या सभी कॉन्सर्ट सुने जाते हैं अपना क्लासिकल न तो ऑपेरा नहीं ज़्यादातर लोग यंग लोग सब डिस्को सुनते हैं अपना punk music rock music country western music jazz हर एक का अपना पसंद का म्यूज़िक है लेकिन म्यूज़िकल हैं सब म्यूज़िकल होना चाहिए कोई भी म्यूज़िक में अपना आनंद आए ठीक है लेकिन इसके अगेंस्ट में जो क्लासिकल म्यूजिक होता है वो भी हमेशा फुल हाउस हो जाता है इतना तो होना चाहिए अब अभी जो मैं देख रहा हूँ ईश्वर की कृपा से पहले से बहुत अच्छा हालात है हमारे यहाँ खास करके जितने बड़े बड़े शहर हैं और प्रधान महाराष्ट्र हुआ दक्षिण भारत हुआ यहाँ क्लासिकल म्यूज़िक का बिल्कुल कोई कमी नहीं है हमेशा अच्छे आर्टिस्ट लोग के लिए फुल हाउसेस होते हैं तो ये तो हो गई और फिल्म संगीत जो है वो हमारे कंट्री में आप समझिए पॉप म्यूजिक जैसा यहाँ है उसी का जगह लिया है आम जनता के लिए मैन इन द स्ट्रीट वो लोग गाते हैं कम से कम उनके कान में कुछ तो पड़ता है अगर वो आप हटा दें तो मैं म्यूजिक कहाँ गया कुछ नहीं म्यूजिक ही नहीं है आपने परंपरा को हमेशा बनाए रखा और उसमें जो अच्छे तत्व हैं दूसरी संस्कृतियों नहीं हमारे लिए बड़ा मुश्किल था ये दोनों चीज़ को एक साथ रखना परंपरा तो हमारा ये है हाँ। इसमें हम अपना भावना जो प्रकाश करते हैं ये हमारा परंपरा है हालांकि क्रिएटिव म्यूजिशियन होने के नाते नया काफ़ी चीज़ मैंने इंट्रोड्यूस किया सितार में भी बज, बजाने की शैली में अपना एक ढंग बाबा से जो सीखा उसको रखते हुए भी यही तो हमारा ग्रेटनेस है संगीत हाँ। में पुराना ही चीज है पुराना भित्ति लेकिन उसमें आप नया नया पेड़ लगाइए नया फूल निकलेगा बगीचा बनाइए यही हमारा आ, संगीत इस, इसी तरह से इतना बढ़ा आपने हर क्षेत्र में प्रयोग किए आपने फिल्म में भी और शास्त्रीय संगीत में भी और पाश्चात्य संगीत के साथ संगीतकारों के साथ रह के भी और यही सब बातें आपको महान बनाती हैं और ऐसा लगता है कि सब बातें जब इकट्ठी जुड़ती हैं तो हमारा अपना जो संगीत है वो कितना विस्तृत फैलता है अभी मैं एक हफ्ता पहले लॉस एंजलिस में दो शो किया कमीशन दिया गया था मुझे Japan art Japan American art society उसमें चार जापानीज म्यूजिशियन छः इंडियन म्यूजिशियन चार अमेरिकन लेकिन वो सारा जो तत्व था वो भारतीय संगीत का ही था अब अच्छा। बहुत ज़ोरदार सक्सेसफुल हुआ पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें समय दिया आ, इच्छा तो हो रही है कि आपसे बातें करते जाएं <laughs> लेकिन हम चाहेंगे अब हमारे श्रोता आपकी कोई रचना सुने आ, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम प्रस्तुत करें हम थोड़ा सा छेड़ सकते हैं बस छेड़छाड़ जिसको कहते हैं क्योंकि Thank you. Thank you.